छिछोरो मैं सिखाऊ मैं हिप हॉप और गुजर सारी मांगी म्यूजिक मेरा नॉन स्टॉप मैं हूँ जी देसी अंडरग्राउंड है मेरा ब्लॉक चुपचाप सुनो रैप मेरी डोंट टॉक गाड़ी काली मारी सड़कों पे चले जब और बेस हाई बजे गाड़ी में जी ढप ढप और छोरी सारी देखे हम है घूर घूर के पर लफड़ों में हम पढ़ते नहीं फिजूल के प्यार कोई दे रहा उस पे जान हम लुटा दे फालतू कोई बोले नाम और निशा मिटा दे जेड ब्लैक मारी कोई रोकता नहीं गाने बजे हाई बेस हमें कोई टोकता नहीं पुलिस वाला मारे आगे बाइक का भी रोकता नहीं रास्ते में कोई सा भी कुत्ता हम पे भोगता नहीं राम राम सब दूर से करते पास मेरे कोई आता नहीं एटीट्यूड मेरा ऐसा है खुद हाथ किसी से मिलाता नहीं मार के मैं हो जाऊं अंडरग्राउंड किसी को मैं पाता नहीं खुद कमाए खुद खाए मस्ती में हम तो जीते हैं जाके किसी तय भी पूछ लो चाट गुजर तो जीते हैं बेस हाई बेस हाई मेरे गानों में अचारे छोरे कितना दम है तेरे कानों में बेस हाई हाई मेरे गानों में एडीना करके चर्चे हैं बेगानों में बेस हाई बेस हाई मेरे गानों में अचारे छोरे कितना दम है तेरे कानों में रैप स्टार देखे हजार उकसाए मुझे वे बार बार छिछोरा पंती वे करते रहते खुद को कह देसी विचार अबे गवार तू है बेकार बस मेरा चल जाए एक बार तुझे फाड़ के करूँ हिस्से हजार मुझे देख के चिड़ो तुम बार बार यू कल का छोरा कहाँ सो आया नया रे अपने स्टाइल हिलाया तो पल में इसने नाम कमाया चढ़ाक से मुझसे बात न करियो खुदा से पहले तुम मुझसे डरियो साइड में कूजर आ जा तू पुलिस केस बाबू बाद में करियो बेस हाई बेस हाई मेरे गानों में अचारे छोरे कितना दम है तेरे कानों में बेस हाई हाई मेरे गानों में एडीना करके चर्चे हैं गानों में बेस हाई बेस हाई मेरे गानों में अजारे छोड़े कितना दम है तेरे गानों में